भला क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया है जिसके नतीजे में वो अपने परवरदिगार की अता की हुई रोशनी में आ चुका है संग दिलों के बराबर हो सकता है हां बर्बादी उनकी है जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से सख्त हो चुके हैं ये लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं